ॐ वाङ्मे प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ जिसमें ता एक देवता सृष्टा अस्मिन महती अरवे प्राप्त ये मंत्र का अर्थ हो गया था परमात्मा के द्वारा सृष्ट ये देवता अधिष्ठात्र देवता जो विराट शरीर में तत्त देवता तत्त विवेक डेवलपमेंट इंडिया ने भी उसमें देवता आए अन्य देवता है वो देवता परमात्मा के द्वारा सृष्टि किए गए देवता इस महान संसार सागर में गिर गए संसार सागर की चर्चा कल गई तो यहां पर एक शंका आती है उस पिंडाभिमानी जीवात्मा को गिर गया बोलना चाहिए विराट में जो अभिमान कर रहा है जीवात्मा देवता गिर गए संसार में कैसे तो विराट पिंडाभिमानी जीवात्मा है उसको संसार में पड़ गया बोलना चाहिए या इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को गिर गए क्यों कहा क्या तात्पर्य होगा इसके बारे में आगे विचार करते हैं ठीक है मैं आगे है नमो संसार संसार अर्णोपति तत्व भक्षमाण असमयाद योग इत्यादि सर्वो की बंध स्तर अभिमानियों जीव से वक्तव्य न देवता हूं ये शंका है जो संसार रूपी सागर में गिरना और आगे जो तम असनाया पिपाशा हम अन्नवार्धक ऐसा आएगा भूख प्यास से युक्त कर दिया ये आएगा सबके सब ये इत्यादि सर्वों की बंधन ये जो बंधन यही है संसार बंधन ये संसार में पढ़ना भूख प्यास आदि से युक्त होना भूख प्यास युक्त होने के बाद में सब कुछ हो जाता है सबसे पहले व्यक्ति को भोजन आदि की व्यवस्था चाहिए भोजन आदि मिलने के बाद वस्त्र आदि उसके बाद में रहन सहन आदि फिर बहुत कुछ चलता ही चाहिए चाहिए होता जाएगा संसार बढ़ता जाएगा सबसे पहले भूख इसलिए भूख रख दिया तो संसार में पड़ना है उसको तो ये शंका आ रही है संसार सागर में गिर जाना और जो आगे कहे जाएंगे तब असना के आप मनोवागत इत्यादि ये सब बातें हैं वक्षमाण असनादि होगा इत्यादि सर्वोपी बंधन जो भी बंधन बताया गया तद अभिमान में जीव से वक्तव्य जो विराट शरीर में अभिमान कर रहा है जो जीव त्रिलोका त्रिलोका त्रिलोकाभिमानी जो बना होगा जीव उसमें कुछ तो कहना चाहिए तायता देवता श्रेष्ठा महती अरण प्रपदन प्रापदन कैसे बोल दिया देवताओं ने कैसे बोल दिया स्मृति देवता को नहीं कहना चाहिए अभी कोई बोले कि नहीं भाई ये बात है तासाम अभी तत्र अभिमान अस्थि उनको भी तो भूख प्यास आदि में संसार में अभिमान है देवताओं को भी इसलिए कहा तदुत्तमिति न शंका नहीं पूर्वादि बोलता है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए न तासाम अभी देवता नाम अभी तथा अभिमान हो शरीर में अभिमान है तद उत्तम इसलिए देवताओं के लिए भूख प्यास युक्त कर दिए बोले संसार में पड़ गए बोले तो पूर्वादि का तो अवसर करें तथापि प्राधान्य तो अभिमान जीवम विहाय मुख्य रूप से वो जीवी होगा देवता गौण होंगे चलो तो अभिमान करते हैं संसार सागर में पड़ जाना अभिमान के कारण से हो जाएगा किंतु मुख्य रूप से तो जीव है वहां तथापि प्राधान्य तो जीवम विहाय अप्राधान्य तो अभिमानिशु तदुक्ते अभिप्राय तो यहां प्रधान रूप से जीव जो हिरण्य एक विराट में अभिमान करने वाला जीव है उसको छोड़ करके अप्रधान जो देवता आदि है उसमें कहने का कोई ना कोई तात्पर्य होना चाहिए तदुक्तेर अभिप्राय वक्तव्य उस कथन का अभिप्राय कहना होगा मात्रा आगे पीछे हो गई है तदुक्तेर तो एकार पहले चाहिए अभिप्राय वक्तव्य नित्यता इसके लोग ऊपर बोलते हैं हाँ, देवताओं को भी जो संसार में गिर गए कहा ठीक है क्योंकि पूर्व अध्याय में जो चर्चा हुई थी कर्म और उपासना का फलस्वरूप जो देवता की प्राप्ति होती है देवता भाव हिरण्य का जो प्राप्ति उसी को मोक्ष कहा था कहते हैं वो भी संसारी है दिखाना चाह रहे जिस देवता को प्राप्त होने से एक वादी उपासना ज्ञान कर्म समुच्चय वादी मोक्ष मानता है उस पक्ष का खंडन करना इसलिए देवताओं को भी संसार में गिरे हुए दिखा रहे हैं चाहते हैं भाष्य एक कह तस्मात कहा जिससे कि संसार सागर में गिर गए देवता यहां देवताओं की चर्चा हुई संसार में गिरे तो पूर्वोक्त तो देवता वही अग्नि आदि देवता है जो मोक्ष मानते हैं जो बाजी मोक्ष मानते हैं तस्मात अग्नियादि देवता अपने लक्षण आए आपकी लक्षण आपकी जो अग्नियादि भाव देवता को प्राप्त होना जो कहा था पूर्व में पूर्वाध्याय में ज्ञान कर्म समुचय उपासना कर्म के समुचय से हिरण्य गर्भ की प्राप्ति वही मोक्ष है कहा था जीवादी देवता प्राप्ति अग्नि देवता अपने लक्षण या गति व्याख्या था पूर्व में जो बात पूर्वा की जो गति बताई उपनिषद में नहीं पूर्व में उपनिषद प्रारंभ होने के पहले कर्मकांड आदि में जो बताई थी कर्म उपासना का फलस्वरूप बताया था ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल भूता वो देवता प्राप्ति कैसे थी उपासना और कर्म के समुच्चय अनुष्ठान के फलस्वरूप जो देवता की प्राप्ति थी साथ ही वो प्राप्ति भी नालम संसार दुखों को समाया संसार दुख के शांति के लिए वो भी पर्याप्त नहीं है इति अयम विवक्षित अर्थ यहां विवक्षित अर्थ यह है इसलिए यहां देवता संसार में गिर गए बोल दिया इसलिए देवता प्राप्ति कोई मोक्ष नहीं होता पूर्व में जो देवता प्राप्ति को मोक्ष करेंगे कहा था उपासना और कर्म समुचयवादी है माने उपनिषद आरंभ होने के पहले उपनिषद आरंभ होता है ऐतरे आरंभ के चतुर्थ खंड पंचम चतुर्थ और पंचम और ष्ठ अध्याय उपनिषद में आते हैं तीन अध्याय इसके पहले जो अध्याय चले उसमें जो चर्चा हुई देवता प्राप्ति स्वरूप को मोक्ष कहा था इसलिए यहाँ देवता भी गिर गए बोल दिया जो संसार में स्वयं डूबे हुए हैं वह आपको संसार से बाहर नहीं कर सकते इसलिए उपासना कर्म आदि को छोड़ करके ज्ञान के ऊपर भरोसा करना चाहिए यह तात्पर्य यही बोलना चाहते हैं ये कहा कि शंका टीका की समझ में आ गई होगी न संसार पति तत्व भक्षण समाधि होगा इत्यादि सर्वों की बंधन जो बंधन कहा जाता है वह तद अभिमानी जो जीवो से भक्तव्य न देवता ये देवता संसार में गिर गए कैसे बोल दिया मंत्र तायता देवता सृष्टा महती अर्ण अश्विन महती अर्ण प्राप्त कैसे बोला जीव को गिरा बोलना चाहिए ये शंका आ गई तो उत्तर दिया थोड़ा सा कि बोला कि भाई तासाम अभी तत्र अभिमान अस्थि उस शरीर में उनके भी तो अभिमान है भूख प्यास आदि का अभिमान है हाँ, उस शरीर में विराट शरीर में देवताओं का भी तो अभिमान है इसलिए कह दिया हाँ, देवता गिर गए करके न समझनीय पूर्वाधिक का तो शंका नहीं करना क्यों फिर भी चलो अभिमान देवता का भी है जीव का भी फिर मुख्य रूप से तो जीव का अभिमान है तो जीव को ही गिरना चाहिए कहना चाहिए देवता गिर गए कैसे तो बोल दिया तथापि प्राधान्य तो अभिमान जीवन विहाय मुख्य स्वरूप से जो अभिमानी विराट शरीर में अभिमान करने वाला जीव है उसको तो गिरा नहीं बोला जाए का देवता प्राप्त वो देवता गिर गए बोल दिए और जीवन विहाय अप्राधान्य तो अभिमानी विषु जो अप्राधान्य रूप से गौण रूप से जो अभिमानी अभिमान करने वाले देवता है उनका तद उत्तेर अभिप्राय वर्तव्य वो गिर गए कहने का उत्ती है वचन का अभिप्राय करना चाहिए पूर्वादी तो की शंका आई थी उसका उत्तर भाष्य में दिया जा रहा है कि देवता गिर गए इसलिए बोला देवता भाव को प्राप्त होना मोक्ष मानता है कोई वादी देवता भाव को प्राप्त होना मोक्ष नहीं वो स्वयं गिर गए संसार ये दिखाना चाहते ये कहा तस्मात अग्नि देवता अपने लक्षण आती या गति व्याख्याता हाँ, पूर्व में जो गति बताई गई थी अग्नि देवता आपको प्राप्त होना जो गति बताई गई थी ज्ञान कर्म समुचय उपासना कर्म समुचय के फलस्वरूप बताया था कैसी गति थी वो ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान फलभूता गति उपासना और कर्म के समुचय अनुष्ठान से होने वाली जो प्राप्ति थी गति थी सापी नालम संसार दुख को उपसमाया सापी गति संसार दुख को उपसमाया नालम पर्याप्त नहीं है वो भी संसार दुख शांति के लिए हाँ यहाँ की अपेक्षा थोड़ा शांति मिल जाएगी हिरण्य गर्भादी पद प्राप्त करने पर किंतु पूर्ण रूप से शांति मिलने वाली है यही कहने के लिए देवता गिर गए स्वयं देवता गिरे हुए हैं संसार में हमें क्या मोक्ष कराएंगे जो जहां तक है उसको ही तक पहुंचा सकता है उसके आगे तो नहीं पहुंचा सकता कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ा नहीं बना सकता उस बात अधिकार ही नहीं है यथ एवं इसलिए ऐसा है देवताओं को गिरा इसलिए यथा एवं तस्मा एवं विदित्वा ऐसा जान करके ये जो हिरण्य गर्भ की प्राप्ति है वो भी ये नालम ऐसा जान करके मुख्य प्रयोजन नहीं होता संसार सागर से पार होने के मुख्य साधन नहीं है ऐसा जानकर परम ब्रह्म आत्मा आत्मा सर्वभूतानंतरियो भक्षमाण विशेषण पर ब्रह्म कैसा है परम ब्रह्म आत्मा सर्वभूतानाम से आत्मा अपराधी भी स्वरूप है अन्य प्राणी मात्र के भी जो भूत है सबके स्वरूप है जो आत्मा बक्षमा लक्षण विशेष आगे जिसका लक्षण बताएंगे ऐसा इंद्र ऐसा ब्रह्म ऐसा रुद्र इत्यादि बताएंगे आत्मा के बारे में वही और प्रकृत जगत उत्पत्ति स्थिति लय संसार हेतु और प्रकृति भी आत्मा वही इदम एक अग्रे आशित आत्मा की ही प्रकरण है यहाँ प्रकरण भी उसी का चल रहा है प्रकृत जगत उत्पत्ति स्थिति संसार हेतु जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के हेतु रूप से प्रकृत आत्मा भी वही आत्मा है सर्व संसार दुखों को समाज निवृत्त है इसलिए वह आत्मा को ही जानना चाहिए हाँ, सारा दुख की निवृत्ति के लिए सारा दुख की शांति जिससे हो उसके लिए आत्मा को ही जानना चाहिए इस प्रकार का तात्पर्य ये होता है इसके लिए देवता के जय करके कहा ये बता बक्षमाण विशेषण में एक नंबर टिप्पणी कहा आगे आएगा द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में आएगा इसमें तृतीय मंत्र में आएगा अभी ये सब ब्रह्म ये इंद्र ये इत्यादि बक्षमा ये, ये आत्मा का स्वरूप बताएंगे सर्वरूप दिखाएंगे आत्मा को सर्वरूप दिखाना है ऐसा वही आत्मा वेदितव्य होता है जो आत्मा अपना भी स्वरूप है और सभी भूतों का भी स्वरूप है सारे भूत जिसमें कल्पित हैं और जो कि प्रकृत प्रकरण भी उसी का चलाया आत्मा भाई इदमय अग्रे आशित नामने चिंतन में सब यहां से आरंभ करके जगत की उत्पत्ति स्थिति लय रूप लय का अधिष्ठान रूप से जो आत्मा की चर्चा हुई वही आत्मा संसार दुख को समन करने के लिए पर्याप्त होता है इसलिए उसी को जानना चाहिए ये तात्पर्य है उपासना और कर्म के करके न बैठे आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करे इसमें तात्पर्य ये दिखाने के लिए देवता गिर गए बोला देवता प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं लोग देवता स्वयं गिर गए संसार में क्या मोक्ष देंगे आपको ये बदलाव तात्पर्य था इसलिए जीवात्मा को गिरा न बोल करके जीवात्मा तो गिरा हुआ ही है देवता का भी नाम देंगे एक तक का आगे कहते हैं तस्मात भाषण का तस्मात ये पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम एतत् परम ब्रह्म ब्रह्मात्म ज्ञान ये परमात्मा का जो ज्ञान है यही एक मार्ग है आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है ये पंथा ये तक सब कुछ यही है एक कर्म एक ब्रह्म एक सत्यम यही सत्य है यदि तक पर ब्रह्मात्म ज्ञान पर ब्रह्म को आत्मभाव से जानना यही मार्ग है क्यों नान्य पंथा विद्यते अयनायक है दूसरे कोई मार्ग नहीं है एक ही मार्ग है आत्मज्ञान इस परमात्मा को प्राप्त करना हो तो आत्मज्ञान दूसरा मार्ग कोई मार्ग नहीं है ऐसा बताया इति मंत्र बला अक्षेता सूत्र परिषद नान्य पंथा विद्यते नायक टीका से देखें यस्मात संसारारंभ तत्व तासाम तस्मात जिससे कि ये देवता स्वयं संसार सागर में गिरे हुए हैं इसलिए आपको मोक्ष देने में समर्थ नहीं होंगे ये बताना तस्मात इत्यादि राशि भी कहा भाष्य को लगाने के पहले टीका लगाना यस्मात संसार आगपति तत्व तासा देवताओं तो देवताओं को संसार सागर में गिरना होता है जिसे इसलिए तस्मात अग्नि देवता के लक्षण भी या गति व्याख्या था ज्ञान कर्म समुचय अनुसार फलभूता साफी नालम संसार को कुछ पूर्व में जो कहा गया था कि अग्नि देवता भाव को प्राप्त होना ही मोक्ष है कहा था स्वयं गिरा हुआ देवता को तो उस भाव को प्राप्त होने से क्या मोक्ष होगा ये दिखाना तात्पर्य है बता ठीक है महारौरवादी अनेक निरेगति इति पाठे उक्त निरेगति यथा दुख समाय नालम तथा सापि नालम यदि पूर्वम कहीं कहीं भाष्य में ऐसा पाठ आता है कहते हैं महारौरवादी अनेक निरेगति जैसे रौरवादी गति मिलना शांति के लिए नहीं होता है इसी प्रकार ये देवता भाव को प्राप्त होना भी ऐसा ऐसा कहा कहीं कहीं पाठ ऐसा मिलता भाष्य में कहा जैसे गति जो तो व्याख्या कर दी जाती है महारौरवादी अनेक निरय गति पाठ है ऐसा पाठ यदि भाष्य में हो तो उक्त निरय गति यथा जैसे महारौरवादी गति को प्राप्त होना जैसे दुख होता है उसी प्रकार देवता भाव को प्राप्त होना दुखी है दुख है नालम दुख के शांति के लिए पर्याप्त नहीं होता देवता भाव प्राप्ति के लिए कहना तथा साथ ही नालम जैसे नरक प्राप्त करना दुख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं होता है उसी प्रकार देवता भाव को प्राप्त करना भी दुख शांति के लिए पर्याप्त नहीं है तद विवक्षाया विवक्षाया भी प्रयोजन आहा उसके लिए भी आप प्रयोजन बताते हैं यथा एवं इत्यादि राज में कहा यथा एवं तस्मात एवं नालम परम ब्रह्मा नालम विदिता इस प्रकार अलम न ऐसा जान करेंगे परमात्मा प्राप्ति के साधन ये नहीं है देवता भाव को प्राप्त होना मोक्ष नहीं है ऐसा दान करते ऐसा एवं नारंग आत्मना टीका में आत्मना सर्वभूता नाम था यह आत्मा उसी को जानने से मोक्ष होता है जो आत्मा कैसा है अपना भी स्वरूप है सभी भूतों का भी स्वरूप है जो आत्मा उसी के ज्ञान से मोक्ष होता है वही मोक्ष देने में समर्थ होता है उसका ज्ञान यह तात्पर्य है आत्मना सर्वभूता नाम यह आत्मा अपना भी और सभी भूतों का भी जो स्वरूप है आत्मा है योग आत्मा यह आत्मा आत्मा वही इदम इत्यादि ना आत्मा वही इत्यादि शब्दों के द्वारा जगत उत्पत्ति स्थिति लय रूप से जिसकी चर्चा उठाई थी ये आत्मा वही इत्यादि ना इदम इत्यादि ना ये मंत्र के शुरू में कहा था जगत उत्पत्ति आदि हेतु जो मेरा प्रकृत आत्मा जो प्रकृत आत्मा है वही आत्मा है सब परम ब्रह्म व्यक्त उसको परब्रह्म रूप से जान यही तात्पर्य है इस उपनिषद का कहा ये जो आत्मा आत्मा वही तो से कहा गया आत्मा था उस आत्मा को अपना भी स्वरूप है और सभी प्राणी मात्र का स्वरूप वही पर ब्रह्म है अहम ब्रह्माष्टमी ये जानना देवितव्य इति अंग ऐसा जानना ये बताया यही पर्याप्त तो होगा मोक्ष के लिए कहते शंका उठा देना ननु वो जो देवता की गति प्राप्त है देवता भाव को प्राप्त हम उसको मोक्ष कहा था वहां पूर्व कर्मकांड प्रकरण क्या कहा था हाँ, ये सब पंथा यही मार्ग है ज्ञान कर्म समुच्चय वाला ये मार्ग है ये सब पंथा एतद कर्म एतद ब्रह्म एतद सत्यम उपक्रम यह मंत्र को आरंभ करके पहले ये मंत्र लिया वहां कर्मकांडों में ये सब पंथा एतद कर्म एतद ब्रह्म एतद सत्यम इति उपक्रम्य उक्तम उक्थम इति वही वाई इत्यादि ना कर्म संधि कहा वह उक्थम उक्थम कहा उक्तम ने हिरण्य गर्भ ये टिप्पणी का बता दिया है उत्तम उत्तम बोले जगत अस्मात इति उत्तम हिरण्य गर्भ उक्त शब्द जिससे जगत निकलता है वो उठता है कौन है हिरण्य गर्भ ऐसा बताया हुआ है ये जो प्रकरण वहां चला था ये सपंथा ये तत्कर्मा ये तत्ब्रह्म ब्रह्म ये तत्त सत्यम यहां से आरंभ करके आगे आता है उत्थम उत्थम ऐसा आता है तो उत्थम उत्थम जब आया है तो गर्भ को कहा वहां जगत जिससे जगत निकलता है निकल जाता है वो उठता है ऐसा कहा हिरण्य गर्भ है वो तो ये ये सब पंथ आदि शब्द तो हिरण्य गर्भ को बताता है ये पूर्वादि की शंका है ये सब है ये तत्त कर्म ये तत् ब्रह्म ये तत्त सत्य उपक्रम्य उक्तम उक्तम यदि भाई बाय इत्यादि ना कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञान से विमुक्तत्व हाँ कर्म संबंधी जो सगुण ब्रह्म ज्ञान है हिरण्य गर्भ का ज्ञान उसी को कहा है ये सब ब्रह्मादि शब्दों से निर्गुण ब्रह्म को नहीं कहा तस्से को मोक्ष साधनत्म वही सगुण ब्रह्म का ज्ञान ही मोक्ष साधन है न उक्त केवल आत्मज्ञान मात्र मात्र से केवल आत्मज्ञान मात्र मोक्ष का साधन नहीं इति ऐसी शंका करके कहते हैं तो शुरू में कहा ये ये सब ब्रह्मादि तो हिरण गर्भ नहीं है सिद्धांत भी बोलते हैं ये सब पंथा इत्यादि ना ब्रह्मात्म विज्ञान में उत्तम सिद्धांत बोलते हैं जो ऐसा पंथा आदि शब्दों के द्वारा परमात्मा विज्ञान को बताया हिरण्य गर्भ के उपासना को नहीं बताया ये सब पंथा इत्यादि ना ब्रह्मात्म विज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी वाला जो ज्ञान है ब्रह्मरूप अपने को ब्रह्मरूप से जानना यह ज्ञान को कहा न कर्म समुचितम ज्ञानम कर्म समुचित ज्ञान को उपासना को नहीं बोला ये तो ब्रह्मादि शब्द ये सब ब्रह्मादि शब्दों से तस्य उक्त वाक्य ना संसार हेतु तो अभवान वो जो हिरण्य गर्भ है ना जो कर्म समुचित ज्ञान का फलस्वरूप उसके तो उक्त वाक्य उक्त वाक्य मैंने त्रिनव टिप्पणी कहा अत्ता हवई सर्वस्व अन्नजात भवती आद्योवा भवती ये वाक्य है वहां हिरण्य गर्भ के लिए माने हिरण्य गर्भ की जो उपासना करेगा वो संपूर्ण जगत का अत्ता बनेगा भोक्ता बनेगा और आद्य भी बनेगा खाद्य भी बनेगा भोक्ता भोग्य दो रूप में संसार है तो संसार भाव को प्राप्त होगा उसके लिए पैसा तो आएगा तस् उक्त वाक्य न उक्त वाक्य यही है टिप्पणी दिया अत्ता वही सर्वस्व अन्न जात सर्वती संपूर्ण अन्न का भोक्ता बनता है उपासक और आद्योगा होते सबका खाद्य हो जाएगा अन्न और अन्नाद्य दोनों भाव में हो जाएगा ये कहा हुआ है वहां को हिरण्य गर्भ के लिए हिरण्य गर्भ उपासना का फल ऐसा बताया संसार हेतु तो अगर जो अन्न और अन्नाद्य भाव में रहेगा मोक्ष दशा में यह संसार दशा है जो तो खाद्य खाद्य भाव में रहेगा हाँ, खाद्य खादक भाव में तो संसार दशा है वो मोक्ष दशा में संसार कम बता दिया तस्मा इसलिए ऐसा पंथा इतिहान में जो ऐसा पंथा आदि मंत्र में आया है उसके द्वारा ये तब ब्रह्म आत्मविज्ञान तदेव उत्तम ज्ञान ये हाँ, ऐसा पंथा इस वाक्य के द्वारा ये जो ब्रह्म आत्मविज्ञान है वही उसी को कहा हुआ है हिरण्यगर को नहीं कहा यह सिद्धांत होता है क्यों तो कहा तमेव विदित्वा अतिवृत्ति में थी नान्य पंथा वृत्ति अयन आय ऐसा श्वेताशन परिषद में है उसी आत्मा को ही जान करके मृत्यु को अतिक्रमण करता है मृत्यु माने अज्ञान उसको अतिक्रमण करता है आत्मज्ञान से अतिक्रमण करता है क्यों नान्य पंथा बीतते अयन आय उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है ज्ञान को छोड़ करके उसका पहचान छोड़ करके कोई अन्य मार्ग नहीं ऐसा कहा कि अनैना भी इस मंत्र के द्वारा भी केवल आत्मविज्ञान व्यतिरिक्त पथ निषेधा केवल आत्मज्ञान से अतिरिक्त मार्ग का निषेध किया है कोई कर्म उपासना से आत्मा प्राप्त होने वाला है परब्रह्म प्राप्त होने वाला है केवल आत्मविज्ञान से अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं केवल एक आत्मविज्ञान ही आत्म प्राप्ति का मार्ग है उसे अतिरिक्त मार्ग जितने भी बताए गए चाहे कर्म मार्ग हो उपासना मार्ग हो जो भी हो उसका इन पथों का मार्गों का निषेध करने से भी निषेधादपि उत्तम एवं ज्ञानम पंथा इसलिए वही यही होगा आत्मज्ञान ही पंथा है मार्ग है एक कहा नान्य पंथा विद्युत नायक ये कहा ठीक है मैं आगे कहते हैं ऐसा पंथा यदि ब्रह्मात्म ज्ञानम उपक्रम्य तो ऐसा पंथा यत कर्म ये जो मंत्र आया हुआ है पूर्व में इसी ऐतरिक आरण्य का मंत्र है वो पूर्वाध्याय में आया ये सब पंथा यहां से आरंभ करके आगे एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम इत्यादि मंत्र आया पूर्व में इस मंत्र का तात्पर्य क्या है तो कहते हैं आगे पूर्वादि में कहा हिरण्यगर को उपासना के लिए कहा था हिरण्यगर में प्रशस्ति कहा सिद्धांत कहते हैं ये सब पंथा यदि ब्रह्मात्म ज्ञान उपक्रम ज्ञान ये सब पंथा से जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान को आरंभ किया यही मार्ग है आत्मज्ञान को आरंभ करके मध्य बीच में ये कर्म ये ब्रह्म इत्यादि से होता है मध्य प्राण विज्ञान उत्तिष्ट हो माने गर्भ की जो विज्ञान है प्राण माने समष्टि प्राण गर्भ की उपासना जो कहा वह तो प्राणोपासना या चित्त एकाग्रे सती तत्फलाच वैराग्य सती ये सब पंथा प्रांत मुख्यम ज्ञानम भक्तुम सक्यम इति अभिप्राय तो फिर प्राणोपासना जो तो बाद में कहा किसके लिए कहा कहते इसलिए चित्त एकाग्र होगा इससे मान आत्मज्ञान के साधन बनेगा चित्त एकाग्र होगा उपासना करने से हिरण्यगर की उपासना से फिर जो चित्त एकाग्र होगा तो उस पद जो संसार प्राप्ति के जितने भी फल थे संसार प्राप्ति के फल से वैराग्य हो जाएगा चित्त एकाग्र होने का आत्मज्ञान के लिए सहयोगी होता है उपासना इसलिए कहा उपासना इसलिए बताइए ये कहा ये सब पंथा यदि ब्रह्मात्म ज्ञान उपक्रम तो है ये सब पंथा ऐसा जो ब्रह्मात्म ज्ञान को आरंभ करके जीवात्मा परमात्मा ज्ञान को आरंभ करके ऐक्य ज्ञान ही मुख्य है आरंभ करके मध्यम बीच में आकर के प्राण विज्ञान तो उपासना बताई हिरणगर भी उपासना ये जो कहा प्राण उपासना या चित्त एकाग्र सदी हिरणगर भी उपासना से माने चित्त एकाग्र होने पर प्राण समस्ती प्राण हिरणगर भी उपासना से चित्त एकाग्र होने पर तत्फलाच वैराग्य सदी और उस उपासना के फल जो हिरण्य गर्भ की प्राप्ति होगी होनी होगी उससे वैराग्य होने पर चित्त एकाग्र होने पर संसार फल चाहेगा नहीं वैराग्य सती तो ये सब पंथा युग ग्रंथ आरंभ में जो ये सब पंथा करके लिया गया था आत्मज्ञान रूपी मार्ग उसी को ही मुख्यम ज्ञान हम भक्तुम सकते मुख्य ज्ञान कहा जा सकता है इसके लिए है यदि अभिप्राय है भाव है यद्यपि एतद वाक्य व्याख्यान अवसर कर्म मार्गो भी पथि शब्दार्थत्व होता है यद्यपि इस वाक्य के व्याख्या के अवसर में कर्म मार्ग भी लिया केवल उपासना नहीं कर्म भी एक आत्मज्ञान की प्राप्ति का परंपरा से मार्ग है निष्काम कर्म कर्म से अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होने पर वेदांत आदि के द्वारा आत्मज्ञान होगा वो भी आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन है साक्षात साधन तो नहीं है परंपरा से साधन है मोक्ष के और कर्म मार्ग भी बताया शास्त्रों में तीन ही मार्गों की चर्चा है कर्म उपासना ज्ञान किंतु मोक्ष प्राप्ति के पूर्व श्रेणी में ज्ञान है उसके पूर्व साधन होते हैं कर्म और उपासना ये बतलाना है यद्यपि एतद वाक्य व्याख्यान अवसर है इस वाक्य की व्याख्या के अवसर में जो ऐसा पंथा आदि वाक्य की व्याख्या के अवसर में कर्म मार्गो की पथित शब्दार्थत्व ने देखे वहां ये सब पंथा में कर्म मार्गो भी कहा यही मार्ग है भाई ऐसा भी कहा है अधिकारी वेद से अलग अलग है पथि शब्दार्थत्व पथि ये सब पंथा में पंथा शब्द से वहां कर्म मार्ग भी कहा है तथापि ज्ञान मार्ग उपाय शब्द कर्म मार्ग को इसलिए कहा है ज्ञान मार्ग के उपाय के लिए माने ज्ञान मार्ग उपाय क्या है कर्म निष्काम कर्म कर्म से अंधकर्म शुद्धि होगी अंधकर्म शुद्ध होने पर ही वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान होगा उसके लिए उपाय है उपाय रूप से कहा कर्म उपासना जितने भी बताए ज्ञान के उपाय रूप से है पहले चाहिए यह नहीं कि खाली ज्ञान में बैठे ज्ञान नहीं हो सकता पहले चाहिए किंतु ज्ञान के बाद कर्मादि की आवश्यकता नहीं मोक्ष के लिए तो ज्ञान है मोक्ष के पूर्व स्थिति में ज्ञान होना चाहिए यह कहा उत्तर न प्राधान्य न कर्मादि जो चर्चा आई है प्रधान मुख्य रूप से नहीं है गौण रूप से है ज्ञान के सहयोग के लिए है मोक्ष के लिए नहीं मोक्ष तो ज्ञान देगा प्रधान रूप से मुख्य रूप से नहीं कहा गौण रूप से कहा ये बता रहे अच्छा अब आगे मंत्र बाकी है तम असना पिपाशाभ्यम अनुवाजत ताएतम अमृवन आयतन न प्रजानी यस्मिन प्रतिष्ठा अन्न अरामा ये मंत्र शेष बाकी है उसका भाष्य अर्थ करते हैं भाष्य टीका भाष्य में कहते हैं तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम जिस पुरुष में परमात्मा ने तब गोलक बनाया माने विराट पिंड में गोलक बनाया स्थान बनाया फिर कर्ण तत्त इंद्रिया की सृष्टि की स्थान की सृष्टि गोलक की सृष्टि फिर इंद्रियों की सृष्टि फिर देव अधिष्ठात्री देवताओं की सृष्टि की जिस स्थान पर उस पिंड को तम पिंडम तम असनात उपास अन्नवार्धक उस पिंड को जिस पिंड में परमात्मा ने पिंड बनने के बाद तीन काम कर चुका है गोलक बनाया इंद्रिया बनाई देवता बनाई हाँ। इंद्रियों के कुर्सियां बनाई और तत्त इंद्रिया फिर इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता जहां बनाया तम ऐसे जो विराट पुरुष है तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजम बीजभूतम पुरुषम वो जो स्थान करण देवता के उत्पत्ति का बीज बना हुआ जो पिंड है विराट शरीर पुरुषम प्रथम उत्पादितम परमात्मा ने सबसे पहले जल से निकाला माने पंचभूतों से मिट्टी लोथड़ा निकाला था उसका प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मान अपने को ही बनाया था उसने परमात्मा ने अपने को ही बनाया है आत्मा हम क्या कर रहे हैं असनायादि असनाया पिपाशाभ्यम अनुवाद उस पिंड को मान पिंडाभिमानी जो होगा पिंड पिंडाभिमानी को भूख प्यास से युक्त कर दिया असना आया पिपाशाभ्याम असनाया माने भूख और पिपाशा भूख प्यास से युक्त कर दिया तो भूख प्यास से युक्त होने पर संसार शुरू हो जाता है सबसे पहले खाने पीने की चाहिए उसके बाद पहनने आदि की व्यवस्था चाहिए फिर रहने आदि की व्यवस्था चाहिए फिर मान सम्मान चलता तो फिर चलता रहेगा संसार बढ़ता रहेगा संसार की सृष्टि यहीं से भूख प्यास से शुरू हो जाती है सबसे पहला संसार में जाने का साधन भूख प्यास है वो अनिवार्य है वहां से शुरू हो गया संसार कई दोनों जोड़ दिया कहा असमाया पास आना अनुवाद मान अनुगमितवान संयोजितवान युक्त कर दिया उस पिंड को भूख प्यास से युक्त कर दिया ऐसा तस्य कारणभूत असनायादि दोषवत्वात तत्कार्यभूता नाम देवता नाम असयानुवत्व कर फिर देवताओं को भी भोग जब कारण में भूख प्यास लगा दिया तो उसके कार्य है देवता उस पिंड पिंड बनने के बाद में गोलक बने गोलक बने इंद्रिय बने इंद्रिय बने के बाद में देवता बने हैं तो जब कारण ही भूख प्यास लगा दिया है तो कार्य भी भूख प्यास शुरू हो गया देवताओं भी भूखे प्यासे हो गए भूख प्यास होने के बाद देवता लोग अब अपने लिए स्थान मांगते हैं विशेष स्थान मतलब अन्न खाने अन्न सेवन करने के लिए विशेष स्थान मांगते हैं व्यष्टि शरीर की सृष्टि के आरंभ करने का आधार है ये तो समृष्टि शरीर था टीका तो मैं देखें ननु पिंड से असनायादि योगे देवता नाम कथम तत्पत्व महाराज पिंड के लिए बोला आपने भोक्त्याशी युक्त कर दिया तम असमायाति पाश्यातम तम माने पिंडम प्रथम उत्पादितम पिंडम वो जो विराट है उसको भूप्यासी युक्त किया कहा तो पिंड से असनायादि योगे भूख आदि का योग पिंड में होने पर देवता नाम प्रथम तत्व तो देवता कैसे भूप्यासी युक्त हो गए वो तो पिंड को किया परमात्मा ने भूप्यासी युक्त ये शंका आ गई ये नाशाम अन्ना अन्नादनाथम आयतन प्रश्न सस्मिन प्रतिष्ठा इतिहा जिससे कि उन देवताओं का प्रश्न बन सके यशमिन प्रतिष्ठता अन्नम अराम बोलते हैं वो उनको कैसे भूख प्यास लगी वो तो कारण में लगा दिया भूख प्यास विराट में देवताओं को तो नहीं लगाया परमात्मा ने फिर देवता लोग क्यों आगे बोलते हैं कि हम यशमिन प्रतिष्ठता अन्नम अदाम हमें आयतन वनो हमारे लिए एक शरीर बताओ कहां बैठ करके हम अन्न अन्न भक्षण करें ऐसा क्यों बोलेंगे उनको तो भूख प्यास लगाया नहीं यह शंका इसके लिए कहा तस्य बोला तस्य कारणभूत असनायादि दोषवत्वाद वो जो कारण थे देवता का कारण है पिंड पिंड बनने के बाद गोलक बना गोलक बना इंद्रिया इंद्रिया के बाद देवता बने तो कारणभूत जो कारण स्वरूप है विराट उसमें असनायादि दोषवत्व भूख व्यास आदि दोष से युक्त हो गया है वो ऐसे होने से कार्यभूता नाम देवता नाम असनायादि मत कार्य में कारण का धर्म कार्य में आएगा ही तो देवताओं में भूख प्यास से युक्त मानना स्वाभाविक है ये कहा आगे ताह भाष्य वगैरह ताश तथो असमाया जो देवता ता देवता वो जो देवता लोग हैं भूख प्यास से पीड़ित हो, होते हुए भूख प्यास से उत्तर कर दिया अब ताह माने देवता तथो असमाया पिपाशाभ्यम पिग्यमाना इसी से भूख प्यास से पीड़ित होते हुए एनम हम अपने दादाजी से बोले हो एनम पितामह क्यों उनके पिता विराट है विराट से पैदा हुए हैं ये और विराट का पिता है परमात्मा ईश्वर है इसलिए पितामह का पितामह से बोले एवं पितामहम ये जो पितामह उनके दादाजी लगते हैं जो देवताओं के अधिष्ठान देवताओं के परमात्मा पितामह हो जाते हैं जो पिता विराट हो जाता है उसके भी पिता है पितामह सृष्टारम जो सृष्टि करता है परमात्मा उसको अब्रुवन माने उत्तर देवता ने कहा क्या कहा आयतनम हमारे लिए योग्य शरीर दे दो आयतन शरीर जहां बैठा जाता आयतन बोलते हैं उसको शरीर अधिष्ठानम हमारा अधिष्ठान आश्रय हम कहा बैठे देवताओं ने कहा आयतनम अधिष्ठानम नो माने अस्मभ्यम नो का अर्थ अस्म आयतनम नो माने नो का अर्थ अस्मभ्यम चतुर्थी न आदेश हुआ है अस्मभ्यम के स्थान पर प्रजान ही माने विधान करो हमारे लिए शरीर का व्यवस्था करो क्यों यस्मिन आयतन है प्रतिष्ठा समर्था सत्य हो अन्नम अदाम भक्ष्याम का जिस आयतन में जिस शरीर में प्रतिष्ठित होकर के माने समर्थ होकर के हम शरीर के बिना हम खा नहीं सकते हैं शरीर चाहिए तो शरीर के बिना खा नहीं सकते इसलिए जिस शरीर में बैठ करके हम प्रतिष्ठित होकर समर्थ होकर के होते हुए अन्नम अदाम अन्न भक्षण कर सके इसलिए हमारे लिए शरीर की व्यवस्था करो ऐसा देवताओं ने कहा परमात्मा से एक कहा टीका पितामहम का अर्थ करते हैं देवताओं ने पितामह से कहा बोला पितामह क्या है स्वजनक पिंड जनक अपना जनक देवताओं का जनक पिंड है विराट अपना जनक मानी स्व से लेना देवता उनका जनक हो गया विराट और उसका जनक है परमात्मा स्वजनक जनकम ये कहा अपने जनक का जनक जो पिता है यही यहाँ पितामह स्वपिंड जनक जनक अधिष्ठानम कहा हमारे लिए शरीर आयतन माने अधिष्ठान बोला अधिष्ठान क्या है शरीरम इत्यर्थ अधिष्ठान शब्द शरीर हम जिसमें बैठे हम जिसमें बैठे वही होता है नो विराट देह देह एवं आयतन बरतते उनके बैठने के लिए विराट शरीर है ना फिर आयतन क्यों मांग रहे हैं देवता फिर दूसरे शरीर क्यों मांग रहे हैं आयतन में क्यों बोल रहे हैं हमारे लिए आयतन की व्यवस्था करो ऐसा क्यों कहा है आयतन तो है वहां विराट शरीर में उत्पन्न हुए हैं वो उनके लिए वो स्थान है विराट शरीर में रहे वो फिर अलग से शरीर क्यों चाहते हैं जब समष्टि शरीर बन चुका है तो बेष्टि शरीर की कामना क्यों कर रहे हैं ये शंका है नो विराट देह ये आयतन है विराट शरीर है आयतन उनका आश्रय है इतिहास कहा तो देवताओं का कहना सोच ये है अलग से आयतन मान लेते हैं अति प्रौढ़ बहुत बड़ा है वो त्रिलोकी शरीर है वो अति प्रौढ़ तम आपूर्य तत्र स्थातुम वयम असमर्था उसको पूरा घेर करके हम रह नहीं सकते हम छोटे छोटे ये तात्पर्य दूसरा शरीर मांगने का तात्पर्य यही है यही उनके देवताओं का ही तात्पर्य है तस्य अति प्रौढ़ जो विराट शरीर है अति प्रौढ़ अति विस्तृत है होने से तम आपूर्य तत्र स्थापन वयम असमर्था उसमें उसको पूरे पूरे शरीर में बैठना हमारे लिए मुश्किल होगा जो अति प्रौढ़ है वो बहुत बृहद है वो शरीर इसलिए तम आपूर्य उसको पूरा घेर करके तत्र उस शरीर में रहना वयम असमर्थ हम समर्थ नहीं हो सकते अन्नम से देह देह पर्याप्तम संपादन आता दूसरी बात अन्न भी उस शरीर के लिए बहुत चाहिए तो उतना अन्न भी हम कहां से संपादन कर पाएंगे इसलिए छोटे छोटे शरीर को हमारे जहां बैठ सके पूरा घेर करके और उतना अन्न का आर्जन कर सके ये बोलना चाहते थे अन्न तो वही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वही कहना होना क्या कहेंगे तो अन्नम तो तद्देह पर्याप्तम संपादन असमर्था उस विराट शरीर के योग्य अन्न भी हम संपादन करने में समर्थ नहीं होंगे ये दो कारण है एक तो उस शरीर में पूरे घेर कर रह नहीं सकते वो बहुत बड़ा शरीर है और दूसरी बार अन्न भी उस शरीर के लायक हम संपादन नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे लिए दूसरा शरीर की व्यवस्था करो बेष्टि शरीर की चर्चा है यहाँ होना आया अतो इसलिए अस्मद योग्यम बेष्टि हम सृजस्व इति उक्तवत्य इसलिए हमारे योग्य जो होगा हम छोटे छोटे हैं हमारे योग्य बेष्टि शरीर की सृजना करो सृष्टि करो इति उक्तवत्य देवताओं ने ऐसा कहा यस्मिन प्रतिष्ठिता यशमिन आयतने प्रतिष्ठिता समर्था सत्य अन्न अदाम भक्षण जिस शरीर में बैठ करके हम अन्न खा सके ऐसे शरीर की व्यवस्था करो उन देवताओं ने कहा तद यद्यपि अस्मदादि व्यस्ति हम बिना भी चरु पुरोडासादि हबीर अदाम अस्ति तथापि तदपि हबीर अदाम व्यष्टि देवता देह मंत्रादास्ति दिवार कहते हैं महाराज व्यष्टि शरीर के बिना भी हमारे शरीर जैसे व्यष्टि शरीर है या ऐसे शरीर के बिना भी देवता लोग चरू पुरुड़ास आदि लेते हैं स्वाहा करके देते हैं खाते हैं देवता लोग हमारा जैसे व्यस्त शरीर नहीं है तो शरीर न होने पर भी खा सकता है ये समझा आई तो उत्तर देते हैं यद्यपि अस्मदादि व्यस्टि दे हम बिना भी हमारे जैसे शरीर है ऐसे शरीर के हमारे जैसे शरीर के बिना भी चरु पुरुड़ासादि हवीर अदनम अस्थि देवताओं के लिए हवि का भक्षण है चरु पुरुड़ासादि हवन करते हैं उसको अदन होता है देवता भक्षण होता है तथापि तदपि जो हमी अदन है वो जो उच्चल को खाते हैं देवता लोग जो आहुति आदि लेते हैं व्यष्टि देवता आदि वहां भी शरीर है हमारे जैसे शरीर तो नहीं है किंतु सूक्ष्म शरीर है उनके पास व्यष्टि देवता आदि हम अंतरा नास्ती वो भी व्यष्टि देवता शरीर के बिना हो नहीं सकता क्योंकि कुछ विषय भोगना हो तो शरीर के बिना नहीं होगा वहां भी शरीर है देवताओं का हमारे जैसे थूल इतने स्थूल शरीर है थोड़ा सूक्ष्म है वही होती शरीर है थोड़ा सूक्ष्म है बेष्टि तो, भाव है देह सृष्टि में आहार कहते हैं आगे बेष्टि शरीर की सृष्टि बताते हैं मंत्र है ताभ्यो कामानयत ताब्रुवन् नवैनो अयम अलमिति काव्यो अश्वम् आनयत् ता अब्रुवन् नवैनो अयम अलमिति काव्यो गामानयत् ता अब्रुवन् नवैनो अयम् अलमिति काव्यो अश्वमानयत् ता नवैनो अयम् अलमिति एकाभ्य देवताभ्य जब देवताओं ने प्रार्थना की हमारे लिए शरीर की व्यवस्था करो जिसमें बैठ करके हम अन्न भक्षण कर सके ऐसा प्रार्थना की तब उस परमात्मा ने ताभ्य मैंने देवताभ्य उन देवताओं के लिए गाम आनयत एक पिंड गाय के आकृति वाला पिंड सामने कर दिया गाय की जो आकृति होती है ऐसा पिंड सामने किया ता अपूर्वन वो देवता लोग बोले ता देवता देवता शब्द स्त्रीलिंग है इसे ता बोल रहे हैं आ देवता वो देवता लोग बोले नो अस्मागम अयम नालम हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है न अलम न पर्याप्त ये ठीक नहीं हमारे लिए अनुकूल हमारे अनुकूल नहीं ऐसा बोल दिया क्यों सभी प्राणी मात्र की स्थिति क्या होती है अपने पूर्वजों के आधार पर ही अपनी सृष्टि चाहते हैं वो जो पूर्व विराट जो बना था मनुष्याकार का था इसलिए वो मनुष्याकार वाला चाहते हैं तो ये कहा उन्होंने कहा तात्य गांव आना कहा गाय को लाया गाय का पिंड बना के लाया एक सामने वो जल से निकाला एक पिंड जल माने पंचभूत है उसी से निकाल के लो शरीर लो बोल दिया किंतु उन्होंने कहा भाई प्रसिद्ध है अयम नो माने अस्मध्यम अलम न पर्याप्त न हमारे लिए पर्याप्त नहीं ये शरीर ठीक नहीं हमारे लिए ऐसा नहीं फिर ताप्य असमान है फिर घोड़ा के आकृति वाला एक निकाला वही पंचभूतों से लो ये इसमें बैठो सब कहते हैं ताब्रुवन देवताओं ने कहा नवई नो तो अयम अलगति ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ऐसे करके जितने भी चौरासी लाख योनिया हैं एक एक करके परमात्मा बनाते गए बनाते गए सब ये निषेध करते गए देवता लोग ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं अंतिम में मानव शरीर एक निकाल देते हैं खुश हो जाते हैं अगले मंत्र में आएगा ऐसा आएगा ठीक है भाष्य में है एवं उक्त एवं देवई उक्त देव, देवता भी उक्त परमात्मा देवताओं के द्वारा कहा गया जो परमात्मा है उक्त परमात्मा देवताओं के द्वारा प्रार्थित जो परमात्मा है शरीर चाह रहे हो ऐसे परमात्मा एवं उक्त ईश्वर हाँ, देवताओं के द्वारा कहा गया जो ईश्वर ईश्वर ने क्या किया ताभ्य देवताभ्य उन देवताओं के लिए गाम गवाकृति विशिष्टम पिंडम गाय के आकृति विशिष्ट एक पिंड निकाला वही पंचभूतों से पंचभूत है सामने इसे विशिष्टम पिंडम ताध्य एवं अध्यय ताध्य माने उसी से ही निकाला कोई जल जल से माने जल प्रधान पंचभूतों से निकाल दिया पूर्ववत पिंडम समझ जैसे विराट निकाला गया था जल प्रधान पंचभूतों से उसी प्रकार इसको भी वैसे निकाला एक पिंड निकाला वही पंचभूतों से पंचीकृत जो पंचभूत है उसे एक पिंड निकाल दिया गाय के आकृति द्वारा पिंडम समृद्धित्य उसको निकाल करके मूर्छयित्वा आनय आनय दर्शक दर्शकवान कहा मूर्छयित्वा का अर्थ होता है अवयव योजन से सम, पूरा सम, संयोजन करके कान नाक मुख आदि सब बना दिया उसका उसके द्वारा तैयार करके आनयत आनयत मान दर्शित दिखाया लो इसमें बैठो ऐसा दिखाया ता पुनर्गवा कृतिम दृष्टि अपूर्वन ता देवता उन देवताओं ने उस गाय के आकृति को देख करके कहा अपूर्वन कहा देवताओं ने कहा क्या कहा नवई गो अस्मद अर्थम अधिष्ठा अधिष्ठाया अन्नम अत्तुम अयम पिंडो अलम नवई कहा यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है जिसमें बैठ करके हम अन्न भक्षण कर सकते क्यों अन्न भक्षण करने के लिए बैठने के लिए स्थान आया हुआ है नवई नो दो माने अस्मत अर्थम हमारे लिए अधिष्ठाय अन्नम अतुम नाड़ हमारे लिए बैठ करके इसमें अन्न भक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है ये पिता ऐसा पिंडा अलम नवई कहा यह पर्याप्त नहीं है ऐसा अलम माने पर्याप्त हो न योग्य अर्थ अलम शब्द तो पर्याप्त अर्थ में होता है नकार लगाने से अपर्याप्त हो जाएगा यही है हमारे लिए भक्षण के योग्य नहीं है यहां बैठ करके हम अन्न भक्षण नहीं कर सकते ऐसा और गवि प्रत्याख्याते तापियो असमान फिर गाय का जब उन्होंने खंडन कर दिया ये नहीं चाहिए हमको गाय का प्रत्याख्यान होने पर ताप्यो उन देवताओं के लिए असमान है फिर घोड़े की आकृति निकाला है उसी पंचभूतों से परमात्मा ने दिखाया लो इसमें बैठो ताब्रुवन देवताओं ने कहा नवई नो अयम अलविद पूर्वक ये भी इसको भी प्रत्याख्यान कर दिया ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा बोल दिया ठीक है बेष्टि देह सृष्टि में आ कहा बेष्टि देह की सृष्टि बताई इस मंत्र में ये कहना चाहते हैं काव्य मूर्सित्व मैंने मूर्सित्व का अर्थ करते हैं निबिड़तया परस्पर अवय संयोजन सृष्टवा सृष्टवा सृष्टवा इत्यर्थ माने घनीभूत करके परस्पर अवय संयोजन करना बिरली संयोग नहीं घनीभूत संयोग कर दिया अच्छा पंचभूत संयोजन में सृष्टवा बना करके हमने दे दिया गाय के पुण्य का देवताओं हमने कहा योग्य नहीं हमारे लिए बोला कैसा क्यों योग्य ने कहा होगा गाय के शरीर को कहते हैं गो शरीर से ऊपरी दंतान महावाले <laughs> गाय के शरीर ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं हमको दूध भी खाना पड़ेगा हाँ। तो भूखे हैं हम सब खाना है तो दूध खा नहीं पाएंगे निकाल नहीं पाएंगे यही उनका तात्पर्य था देवताओं का गो शरीर से उपरी दंताना मुकाब ना गाय के शरीर में ऊपर की तरफ दांत नहीं होते सामने दुर्वा आदि मूल से उत्खातम असत्यत्व आदि जो बूंद जितने भी छोटे छोटे पौधे होंगे उनको खा नहीं पाएंगे उसको उखाड़ नहीं पाएंगे आप इसलिए ठीक नहीं कहा अच्छा फिर अश्व के बारे में क्यों प्रत्याख्यान किया होगा घोड़ा भी नहीं चाहिए ये भी पर्याप्त नहीं कहा क्यों तो कहते हैं वैद दंतत्व न उक्त दोषा भाव मैंने अश्व बनाया इसलिए कि दोनों उसका ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं दो आदि उखाड़ सकता है इसलिए बना दिया उसको भी प्रत्याख्यान किया क्यों कहा होगा देवताओं ने क्यों खंडन किया तो कहते हैं अश्वस्यापी विवेक ही कहना उसे विवेक नहीं रहता है इसलिए वो भी उन्होंने खंडन कर दिया अयोग्य ये बता आगे टीका में कहते हैं गवास्व ग्रहण से सर्वक्रिय देह उपलक्षकत्व ये उपलक्षण है गो और अश्व का ग्रहण किया सारे पीरियड ने जितने भी है सबका प्रत्याख्यान किया एक एक बना के सामने दिखाता गया परमात्मा ये लो ये लो ये लो एक खंडन करते गए नहीं नहीं नहीं फिर ये कहते हैं सर्व इत्यादि का आवास है अच्छा, पहले मंत्र है ताभ्य पुरुषम आनयत अब्रुवन सुकृतम बतई पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीत यथा आयतनम प्रविशत काव्यपुरुषम आनयत ता अब्रुवम सुकृतम बतयति पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीत यथा आयतनम प्रविशतेति ताभ्य देवताभ्य चतुर्थी उन देवताओं के लिए जब सारे शरीरों का प्रत्याख्यान किया चौरासी लाख योनि में सारा प्रत्याख्यान करते गए बनाता गया परमात्मा के खंडन करते गए ताद्य उन देवताओं के लिए चतुर्थी बहुवचन है पुरुषम है मानवाकार एक शरीर बना दिया न पुरुष है मानव मानवाकार मानवाकार शरीर मनुष्याकार शरीर बना दिया सामने और दिखाया लो इसमें बैठो ता अब्रुवन उन देवताओं ने कहा उस शरीर को देख करके मानव शरीर को देख कर कहा सुकृतम बताइए सुंदर बना हुआ है ऐसा कहा जो शरीर ठीक है माने श्लोक परलोक का सब ज्ञान रहता है इसमें सभी ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान युक्त शरीर है बाकी में पूर्ण ज्ञान है किसी में नहीं है अपने सामान्य खान पान रहन सहन आदि का ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान नहीं है अन्य में परलोक संबंधी ज्ञान नहीं है अन्य कोई हो नहीं सकता केवल भोग भोगने के लिए अन्य योनि है इसमें भोग भोगते हुए कुछ ऊपर क्या कर सकता है आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकता है विशेष शरीर इसके लिए ताप्य पुरुषम आनयत इस मानवाकार सृष्टि को मानवाकार एक आकृति ला करके दिखा दिया निकाल के बता दी इस ये है तुम्हारे शरीर तो ता अब्रुवन ता देवता अब्रुवन उन देवताओं ने कहा सुकृतम बताई थी पत शब्द एक भी खेद अर्थ में होता है अव्यय होता है पता तो जब सुकृत लगने के कारण अच्छा प्रशंसा में हो जाएगा बड़ा सुंदर ऐसा बताया बहुत अच्छा इस तरीके है ऐसा देवताओं ने कहा क्यों पुरुषो भाव सुकृतम यह मानव शरीर ही सुकृत है भाव मान एवं भाव का अर्थ एवं पुरुषो भाव सुकृतम यह मानव शरीर ही सुकृत है सुकृत का दो अर्थ करेंगे आगे अच्छा बना हुआ है अथवा परमात्मा स्वयं परमात्मा ही इस शरीर में आया हुआ है परमात्मा ने ही बनाया है स्वयं को बनाया है इसलिए भी स्वीकृत है अर्थ करेंगे ये मानव शरीर ही स्वीकृत होता है ता अब्रवीत ता ये दिव्यांत है उन देव, देवताओं को कहा परमात्मा ने कहा अब्रवीत परमात्मा ता देवता अब्रवीत उन देवताओं को परमात्मा ने कहा क्या कहा यथा आयतन प्रविष्ट जिसका जो योग्य स्थान हो उसमें बैठो क्योंकि सबका योग्य स्थान नहीं माने श्रोत्र के जो देवता होंगे दिग्देव देवता उनको कान में बैठना पड़ेगा आदित्य को चक्षु में बैठना पड़ेगा आंख में आगे बैठना पड़ेगा और सीधा बैठने पाएंगे चक्षु होकर के बैठना पड़ेगा भिन्न भिन्न स्थान है उनका रहने का स्थान अधिष्ठात्री देवताओं का परमात्मा ने बोल दिया कि यथा आयतन प्रवेश जो अपना अपना योग्य स्थान हो उसमें प्रवेश करो ऐसा आदेश दे दिया इत्यादि कहा अच्छा टीका में कहते हैं गवास्प ग्रहण से सर्वत्र उपलक्ष्य उपलक्षण अकृत्य उत्तम गाय और घोड़ा दो लाया करके कहा बाकी बोले गाय ये उपलक्षण है माने सारे तीरियों के लिए एक एक करके लाया समझना यहां उपलक्षण है दोनों इसी उपलक्षक मान करके कहा सर्व प्रत्याख्या भाषण का सारे शरीर जितने भी परमात्मा ने बनाया यहां चौरासी लाख योनिया बनाते गए मानव शरीर को छोड़ करके सब बनाता गया परमात्मा लोग इसमें बैठो मना करते गए सब सर्व प्रत्याख्यान सारे शरीरों का प्रत्याख्यान देवताओं के द्वारा कर देने पर खंडन दिया नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं बोलते ताभ्य मैं देवताभ्य उन देवताओं के लिए पुरुषम आयत स्वयोनिभूतम पुरुष को बनाया स्वयोनिभूतम माने कारण स्वरूपम कारण मनुष्याकार ही था वो पिंड जो विराट पिंड था मनुष्याकार में ही था तो ये देवता होंगे जो कारण स्वरूप है उसी को पिंड को बना दिया मनुष्य शरीर ही बना दिया ये कहना चाहते हैं सो योनि हम माने उन देवताओं के योनि कारण शरीर जैसा था वैसे ही बनाया इसमें शरीर आएगा सो योनि पुरुषम दृष्ट अपने ही योनि माने कारण पुरुष देख करके जिस अपने कारण जिस जैसा था वैसे उन्होंने देखा ये शरीर को ता देवता स्वयोनि पुरुषम दृष्टा स्वशल्य में देवता अपना था कारण विराट ऐसे पुरुष से ये ऐसा देख करके ऐसे अपना जो कारण जैसा था वैसे पुरुष को देखा इन्होंने देख करके अखितना सत्य प्रसन्न है खेद नहीं है क्योंकि सुकृतम पता बोला हुआ खाली बता बोलते तो खिन्न हो जाते सुकृतम पता कहा बहुत अच्छा है ऐसा बोले अखिन्ना सत्य सुकृतम शोभनम कृतम इदम अधिष्ठानम बता इति अपूर्वम ये बहुत सुंदर बनाया आपने ऐसा कहा यह अधिष्ठान बहुत अनुकूल हमारे लिए सुकृतम मन शोभनम कृतम अच्छा किया हुआ है इधम अधिष्ठान बताइए बहुत सुंदर बना हुआ है ऐसा कहा देवताओं ने सुना कहा तस्मात पुरुषो भाव मान पुरुष एवं इसलिए यह मनुष्य शरीर ही सुकृत है अन्य शरीर को सुकृत नहीं बोलते हैं मनुष्य शरीर ही सुकृत होता है क्यों सुकृत कहा भाव माने एव पुरुष एव पुरुष भाव माने पुरुष एव पुरुष ही सुकृतम क्यों सर्व पुण्यकर्म हेतु हेतुत्व जितने भी पुण्यकर्म इसी से हो पाता है बाकी शरीर में नहीं हो पाता भविष्य के लिए पुण्य कर्म कर सकता है ये इसलिए सुकृत है मनुष्य शरीर को सुकृत कहा गया पुण्यकर्म का कारण बनता है ये शरीर से कुछ पुण्य कर्म हो सकता है अगर चाहता हो तो सकाम निष्काम जैसा भी चाहे वैसा कर्म कर सकता है बाकी सभी भोग भोगने के लिए है भोगी होने हैं सारे पुण्य कर्म नहीं हो सकते पाप कर्म तो हो जाएगा बैल मार देता है इसमें से अच्छा काम नहीं कर सकता पुण्य कर्म नहीं कर सकता अन्य योनि में जाने के बाद में पाप कर्म तो हो जाएगा पुण्य कर्म नहीं होगा यहां पुण्य कर्म कर सकता है इसे सुकृत है ये शरीर सुकृतम मत कहा पुरुष एवं सुकृतम बोला ये मनुष्य शरीर ही सुकृत शरीर है क्यों सर्व पुण्य कर्म हेतु सारे पुण्य कर्म का कारण नहीं बनता है या कर सकता है इस शरीर में मैंने चौरासी लाख योनियों में एक मौका दिया है परमात्मा ने कुछ काम कर सकता है यहां बैठ करके फिर बाद में तो घूमता ही रहना है कुछ कर नहीं पाएगा फिर भोगते चल रहा है भोग भोगना एक मौका है शरीर अथवा सुकृत का अर्थ दूसरा भी है स्वयं व स्वयं आत्मा स्वमाया भी कृतता अपने माया के द्वारा अपने को ही बनाया है परमात्मा अपने माया के द्वारा अपने को ही बनाया जैसे जादूगर अपने माया से अपना ही शरीर दूसरे रूप में बनाता है विवर्तवाद है अपने माया के द्वारा अपने को ही बनाया रूपांतर बनाया है इसलिए अथवा स्वीकृत का अर्थ दूसरा एक तो पुण्यकर्मा का कारण होते स्वीकृत का इस शरीर को मनुष्य शरीर को अथवा स्वयं व स्वेदय आत्मना अपने स्वरूप से अपने रूप से ही स्वयं माया भी अपने माया के द्वारा क्योंकि विभक्त बनाने के लिए रूपांतर बनाने के लिए माया चाहिए जैसे जादूगर में तो माया भी में देखा है माया भी अकेला आता है रूपांतर बनाता है विभक्त है वो इस प्रकार स्वेदैव आत्मा स्व माया भी कृतत्वाद अपने ही द्वारा बनाया माया के द्वारा अपने को ही बनाया उसने इसलिए भी सुकृत है ऐसा का तादेवता ये द्वितीयांत है ता उन देवताओं को परमात्मा ने कहा ता देवता ईश्वरों अब्रवित उन देवताओं को ईश्वर ने कहा देवताओं को कहा क्या कहा हाँ, अब्रवित मैंने हाँ, इष्टम आसाम इदम अधिष्ठान इतमत्वा ये सोच करके कहा परमात्मा ने इनके लिए ये स्थान अच्छा है आसाम देवताराम इन देवताओं के लिए इदम अधिष्ठानम इष्टम ये अधिष्ठान इष्ट है अच्छा है अच्छा लगेगा तो ऐसा सोच करके कहा परमात्मा परमात्मा ही कहते हैं आगे परमात्मा ने यह सोच करके कहा इष्टम आसाम इदम अधिष्ठान इदम अधिष्ठानम आसाम इष्टम इन देवताओं का या यह अधिष्ठान जो शरीर है इष्ट है इति मत परमात्मा ने ऐसा मान करके क्यों कहते सर्वे ही से मानते हर प्राणी जो भी होते हैं अपने कारण में ही आनंदित होते हैं अपने कारण नहीं गाय का बछड़ा गाय के तरफ ही जाके बैठेगा उसी पंक्ति पे बैठेगा कुत्ते का बच्चा होगा कुत्ते के पंक्ति में जाकर बैठा अपने कारण को अच्छा लगता है सुअर का बच्चा होगा वो अपने सुअर के तरफ ही जाके बैठता है तो ये मनुष्य का मान विराट मनुष्य था तो अपने तरफ ही बैठना अच्छा लगेगा इसलिए मनुष्य शरीर इसको अच्छा है विराट शरीर मनुष्य आकृति के था मनुष्य आकृति में पढ़ाया गया था इसलिए ये जो मनुष्य को कोई विराट शरीर अपना कारण है वो इसलिए अपने कारण की तरफ भी रहना अच्छा लगा बाकी शरीर को प्रत्याख्यान कर दिया ये शरीर अच्छा लगा लगेगा ये सोच करके कहा परमात्मा अतो यथा हम यश्य जिसका जैसा स्थान होगा परमात्मा ने आदेश दिया जिसका आयतन जैसा हो स्थान जैसा हो या तो बदनादि क्रिया योग्य आयतन आयतन जिसको किसी को बोलना है किसी को सुनना है किसी को देखना है किसी को सूंघना है देवताओं का काम है अपना अपना जो क्रिया के योग्य आयतन जो हो स्थान हो तत् करो उस आयतन में प्रवेश करो ऐसा परमात्मा ने आदेश दिया तो कहा ठीक है हमें कहते हैं <clears throat> सोयोनि भूतम कहा था सर्व प्रत्याख्याने ताप्य पुरुषम आनयत सोयोनि भूतम तो सोयोनि से क्या लेना है सोयोनि भूत विराट पुरुष उन देवताओं के जो कारण स्वरूप क्या है विराट है योनि माने कारण कारण विराट पुरुष पुरुष देह सजाती है उस देह के सजातीय शरीर आया अभी इसलिए खुश हो गया अपने ही कारण के समान शरीर मिला अभी उनको इसलिए खुश होंगे उनका कारण मनुष्याकार में था विराट इसलिए ये मनुष्याकार सृष्टि कर देने पर खुश होते हैं सभी प्राणी मात्र अपने योनि वाले के साथ खुश मानते हैं खुश मान जाते हैं देखा है और कोई भी प्राणी अपने पंक्ति की तरफ भी बैठता है दूसरे तरफ नहीं जाता ऐसा देखा वही अच्छा लगता है उसको आपको भले बुरा लगता होगा कुत्ते का बच्चा आपके तरफ नहीं आएगा आप अच्छे हैं महात्मा है आपके तरफ नहीं आएगा कुत्ते की तरफ ही जाता है अपने कारण ही अच्छा लगता है सब यही है कारण यही पता है स्वयोनिभूत विराट पुरुष ने सजाती में इत्यर्थ हाँ तो स्वयोनिभूतम का कारण किया अपने ही जो कारण है देवता जिससे बने हैं उसका कारण है विराट विराट है विराट पुरुष देह के सजातीय शरीर यह है विराट का सहिष्ठा शरीर है उसी जाति का शरीर है वो आकृति मनुष्य आकार की थी ये भी आकृति इसलिए वो खुश हो गए देवता लोग अपने कारण के समान जातीय शरीर पाया उन्होंने इसलिए खुश हो गए यशमात स्वकीय परितोष के ना सुकृतम पता दिया जिससे कि उन्होंने अनुमोदन कर दिया अपने जो परितोषक का द्योतक दो शब्द बोल दिया सुकृतम बता ऐसा बोल दिया संतुष्टि का द्योतक शब्द बताया उन्होंने देवताओं सुकृतम बता बहुत अच्छा है ये शरीर बहुत अच्छा है क्यों वो जिससे पैदा हुए थे देवता विराट से उसके सजातीय शरीर यह है इसलिए खुश हो सो योनि सजातीय शरीर को खुश हो जाते सब ये कहा स्वकीय परितोष द्योतक सुकृतम पद इंडियान शब्द ये शब्द के द्वारा उन्होंने अपनी संतुष्टि दिखाई है सुकृतम पद शब्द के द्वारा शब्द है ना पुरुष देहम उत्तवत्य पुरुष देव का सुकृतम पद बोला इस शरीर को बहुत सुंदर है करके अनुमोदन किया है तस्मात तस्य इधानी में स्वीकृत इसलिए ये शरीर देवताओं ने सुकृत बोल दिया था इसलिए वो मनुष्य शरीर आज भी सुकृत है क्यों पुण्य कर्म के लिए कारण बनता है आज भी सुकृत देवताओं ने कह दिया सुकृतम करके मोहर लगा दिया था सुकृतम पता बोला था इसको इसलिए आज भी ये सुकृत है क्यों पुण्य कर्म कर सकता है ये कहते हैं तस्मात इत्यादि भाषण में कहा था तस्मात पुरुषो भाव पुरुष एवं सूत्रिकम सर्व पुण्यकर्म हेतु भाष्य में होता था देवताओं ने सुकृत करके बोल दिया था इसलिए सुकृत है क्यों सारे पुण्य कर्मों का कारण यही होता है दूसरे शरीर में उपास है इसलिए सुकृत है ठीक है कहते हैं दूसरी बात स्वयं बा कहा था अथवा स्वयं बा स्वयं आत्मा स्वयं बनाया अपने से ही बनाया और दूसरा नहीं मटेरियल भी स्वयं था बनाने वाला भी वही था माना उपादान कारण निमित्त कारण स्वयं स्वयं हो गया निमित्त कारण और स्वयं हो गया उपादान कारण अपने ही बना अपने से ही बनाया उसने माया के सहारा से जैसे जादूगर जो आता है माया भी होता है स्वयं वही बनाता है और स्वयं बनाता है स्वयं बनता है माया के कारण से बनता है वो माया है ऐसे परमात्मा भी इसलिए भी स्वीकृत है कहा स्वयं बा ये निमित्त कारण बनाने वाला स्वयं रहा और नहीं मटेरियल भी वही है उपादान कारण भी वही है स्वेन माया स्वेन आत्मा अपने स्वरूप से ही स्वमाया भी कृतत्वाद अपने माया के कारण से स्वयं ने स्वयं को बनाया है इसलिए भी स्वीकृत है ये परमात्मा ने ही परमात्मा को स्वयं को इस रूप में बनाया माया के कारण चाहे परमात्मा इस रूप में दिख रहा है इसलिए भी स्वीकृत है कहा टीका हम कहते हैं ईश्वरेण स्वेदैव कृतम ईश्वर ने इसको स्वयं बनाया मनुष्य शरीर को दूसरे ढोकर आदि से नहीं करवाया सेवक से नहीं बनाया है स्वयं बनाया इसलिए भी सुखी है परमात्मा स्वयं बनाए इसको आश्रम के बड़े महंत अगर स्वयं काम करें तो उसका नाम अच्छा हो जाता है ये कहते हैं ईश्वर स्वेदैव कृतम भृत्यादि कृत अपेक्षा सुकृतम जो सेवक आदि के द्वारा किया हुआ की अपेक्षा मालिक का किया हुआ सुकृत होता है परमात्मा ने स्वयं किया इसको वृत्यादिकृत अपेक्षा सुकृतम सुष्टुकृतम करता अच्छा किया हुआ था अपने करता है तो अच्छा बनाता है दूसरे भी कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगा इसलिए भी सुकृत है परमात्मा ने किया बनाया है इसको इसलिए सुकृत है कहते पुरुषोदरादित्व स्वयं इति स्थान है सुशब्द सुकृत में स्वयं कृत था तो स्वयं को सु आदेश हो गया पुरुषोदरादि में यथोपदिष्ट तो सुकृत शब्द पुरुषोदरादि गण में आया है शब्द होना चाहिए स्वयं कृत शब्द का सुकृत बना तो स्वयं के जगह पर सु आदेश हुआ है पृषोत्तरादि गण है ये पुरुषोत्तरादि ने यथोपनिष्ठम जैसा महापुरुष ने प्रयोग किया उसको वैसे समझना चाहिए ऐसा कहा गया एवं व्यष्टि देह सृष्टि में उपवा इस प्रकार व्यष्टि शरीर के सृष्टि को कथन करके चौरासी लाख योजना की सृष्टि बताकर तत्र करणानाम देवतानाम जब व्यष्टि रूप में प्रवेश वहां इंद्रियों का भी प्रवेश बतलाना है खाली देवता ही नहीं इंद्रिया आएंगे तभी देवता आप आएंगे इंद्रियों को अधिष्ठात्री देवता है वो तो अभी इंद्रियों को और देवताओं के व्यस्त रूप से प्रवेश करते हैं कहा ता देवता इत्यादि सब ने कहा उन देवताओं को परमात्मा ने कहा ईश्वर ने कहा इनके लिए इष्ट साधन इष्ट आसन है ये अधिष्ठान है करके कहा ठीक है इष्ट हेतु देवताओं के लिए इष्ट क्यों है तो कहा सर्वे ही सो योनि से रमनते एक उत्तर दिया सभी प्राणी मात्र जितने भी होते हैं अपने कारणों से ही अच्छा मानते हैं दूसरे में अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि देवता जिससे पैदा हुए हैं वो तो विराट शरीर में पैदा हुए हैं वो मनुष्याकार का था इसलिए मनुष्य शरीर में उनको अच्छा लगता आयतन मन गोलक रूपम स्थान में आयतन का तो गोलक है वो गोलक बना दिया एक आयतन जो आयतन जिसका वहां बैठो तो शरीर में तत्त गोलक में बैठेंगे देवता आकर के इंद्रिय के साथ एक काम समय हो गया है ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता ममोने पासी प्रतिष्ठित आविर्भवी देवस्माय श्रुतम मे मा प्रकाशी मे सीते ऋतम